जहाँ विक्रांत रहता था उस घर में सबसे नीचे रमेश के फलों की दुकान थी इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर रमेश का परिवार रहता था और फिर सबसे ऊपर विक्रांत किराए पर रहता था इस गली में लगभग सभी घर इसी तरह बने हुए थे विक्रांत की बिल्डिंग के जस्ट बगल में सबसे नीचे टेलर की शॉप थी और फिर फर्स्ट फ्लोर पर बिल्डिंग के मालिक की फैमिली रहती थी और सबसे ऊपर वो लड़कियां रहती थी ऊपर विक्रांत भी सेकंड फ्लोर पर था और उनकी पड़ोसी जीनत और मोनिका का घर भी बगल वाली बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर था उन तीनों गुंडों की बात सुनकर विक्रांत को इतना अंदाजा तो लग गया था कि ये उन लड़कियों की ही बातें कर रहे थे एक दिन पहले जब मोनिका रात में चाबी खोने की बात कहकर विक्रांत के घर में रुकी हुई थी तब वो किसी से पिट आई थी जीनत भी उससे किसी आदमी की बात कर रही थी वो दोनों बहुत गुस्से में थी जीनत भी उससे किसी आदमी की बात कर रही थी वे दोनों बहुत गुस्से में थी मोनिका तो काफी डरी हुई थी पक्का ये वही लोग हैं जिसने पहले मोनिका को पीटा था लेकिन विक्रांत ने सोचा कि मुझे क्या मैं फालतू के पचड़े में क्यों पड़ू साले ये इतने मोटे मोटे हैं मुझे तो एक झटके में ही सुला देंगे कौन है ये लोग आपको ढूंढ रहे हैं क्या गुंडे जैसे लग रहे हैं रिया ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा हम्म, नहीं फिर विक्रांत को लगा कि जीनत मेरी अच्छी दोस्त है उसने पहले एक बार मेरी हेल्प भी की है अभी वे मुसीबत में हैं तो मुझे उनकी हेल्प के लिए जाना चाहिए और मैं पुलिस में भी हूँ मेरी तो मॉरल ड्यूटी है कि लोगों की सुरक्षा करूँ ये सोचकर विक्रांत ने वहां जाने का फैसला कर लिया तुम अपने महेश अंकल को संभालो मैं देख कर आता हूँ इतना कहकर विक्रांत ने कुत्ते को रिया के हवाले कर दिया अंकल लेकिन आप इसे लेकर जाओ ना कहीं वहां जरूरत पड़गी तो रिया ने कहा चिंता मत करो तुम्हारे दादाजी इतने भी कमजोर नहीं है कि उन्हें कुत्तों की जरूरत पड़ेगी दादाजी अंकल क्या बोल रहे रिया ने इतना कहकर कुत्ते को अपनी बाहों में भर लिया कुत्ता भी भौमो करके रिया की गोद में सिर रखकर बैठ गया विक्रांत तेजी से सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच गया वो अभी फर्स्ट फ्लोर पर ही पहुंचा हुआ था कि उसे ऊपर से कुछ आवाज आती सुनाई पड़ी विक्रांत नीचे फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में ही छिपकर खड़ा हो गया और वहीं पर खड़े होकर ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा वहां कोई दरवाजे पर जोर जोर से लात मार रहा था खोल खोल साली देख आराम से खोल दे वरना चाबी तो हमारे पास भी है हम खुद ही अंदर आ जाएंगे हैं तभी जीनत के कमरे से एक खिड़की खुलती है और उसमें से जीनत की आवाज सुनाई पड़ती है उस्मान तुम क्यों बेचारी को परेशान कर रहे हो अभी तुमने उस दिन भी पीटा था और फिर उसका सारा सामान भी छीन लिया थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाओ अच्छा तू कौन है तू मेरे से ऐसे बात करेगी उस काले और मोटे आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा वो साली मोनिका किधर है उसको बुला आप उनको उससे बात करनी है साली मेरे इलाके में आके धंधा करती है और मुझे खबर भी नहीं है बुला उसको कहाँ छिपी है वो नहीं झूठ बोल रहे हो तुम मैंने बताया था और मैं तुम्हारे आदमी के साथ गई भी थी तुम लोग अब अपनी बात से मुकर रहे हो अंदर से मोनिका की डरी हुई आवाज सुनाई पड़ रही थी क्या झूठ बोल रही है तू तूने मेरे को नहीं बताया और ना मेरे पास आई पता नहीं किससे मुंह काला करवा के आ गई और मुझसे झूठ कह रही है कि बताया था उस्मान ने चिल्लाते हुए कहा उस्मान मैं कहती हूँ बस करो अब अंदर से जीनत ने चिल्लाते हुए कहा देखो उस्मान मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम छोटी सी बच्ची को परेशान करना बंद करो क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो जो तुम चाहते थे बेचारे ने सब कर दिया फिर भी यहाँ तक उसे परेशान करने चले आए अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी क्या बोला तूने उस्मान का पारा हाई हो चुका था तू है कौन बहुत पटर पटर कर रही है बीच में बुला पुलिस को अभी बुला इधर ही बैठा है अपन देखता हूँ साली पुलिस क्या उखाड़ती है अपन का अब तो तेरे से भी निपटना पड़ेगा अपन को तालिब फालतू बीच में उंगली करती है विक्रांत कॉरिडोर में छुपकर सारी बातें सुन रहा था उसे सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी थी विक्रांत पुलिस वाला है वो अभी ऊपर जाकर आराम से अपनी आइडेंटिटी बताकर उन्हें यहाँ से भगा सकता है लेकिन ऐसा करके वो जीनत और मोनिका की मदद नहीं करेगा बल्कि उनकी मुसीबत को और बढ़ा देगा क्योंकि फिर अगली बार जब भी वो गुंडा उस्मान जीनत या मोनिका से मिलेगा तो फिर उन्हें और परेशान करेगा इसलिए अभी इस सिचुएशन में पुलिस बनकर वहां जाना ठीक नहीं रहेगा दूसरी बात ये कि कोई रोड छाप गुंडे नहीं लग रहे थे जिन्हें एक बार पीट कर शांत किया जा सकता था अगर विक्रांत ने अभी जाकर इन्हें थोड़ा बहुत पीट कर भगा दिया तो ये फिर शांत नहीं रहने वाले हैं आगे ये मौका ढूंढ कर विक्रांत पर भी हमला कर सकते हैं इस बीच विक्रांत को अपने पिछले जन्म की बात भी याद आ गई जब वो खुद बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था अगर तब उसे इस तरह की कोई सिचुएशन फेस करनी होती तो फिर वो अपने सारे गैंग को इकट्ठा कर लेता और उनसे भिड़ जाता लेकिन अभी तो वो पुलिस वाला है अब वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है अभी उसे इस समस्या का कोई ऐसा हल निकालना होगा जिससे कि ये फिर कभी दोबारा से इन लड़कियों को परेशान ना कर पाए विक्रांत सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या सोल्यूशन हो सकता है ऐसे लोगों का असली इलाज यही था कि इन्हें तब तक पीटते रहो जब तक कि इनकी सांस ना रुक जाए अब विक्रांत ने निश्चय कर लिया कि वो इन लोगों का इलाज अपने तरीके से ही करेगा ये सोचकर विक्रांत ने तुरंत ही फोन निकाला और जीनत के पास फोन कर दिया जैसे ही जीनत ने फोन उठाया विक्रांत ने कहा चुप रहो कुछ बोलना मत मैं जो कह रहा हूँ बस ध्यान से सुनो इन लोगों से ये मत कहना कि मैं पुलिस वाला हूँ और मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ क्या मतलब जीनत कंफ्यूज थी मैं पुलिस हूँ और तुम्हारे घर के बगल में रहता हूँ ये बात इनसे मत कहना अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो फिर बिल्कुल शांत रहना अच्छा अच्छा जीनत ने कहा अभी भी उसे विक्रांत की सारी बात समझ में नहीं आई थी लेकिन ये समझ गई थी कि उसे अभी क्या करना है